नमस्कार मेरा नाम ऋषिता माथुर है और मैं आज आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी कर्मों का फल सुनाने जा रही हूँ एक बार की कथा है देवऋषि नारद और ऋषि अनगरा कहीं जा रहे थे रास्ते में उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी दुकान के नजदीक ही जूठी पतलों का ढेर लगा हुआ था उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है ये दृश्य देखकर देवऋषि को हंसी आ गई ऋषि अनगरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा नारद बोले हे ऋषिवर ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है देखें जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल सका कर्मफल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई अर्थात मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है बेशक इसलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों ना करनी पड़े थैंक यू